और वो उनके लिए जिनको वो नहीं जानते एक हिस्सा मुकर करते हैं उसमें से जो हमने उनको रिस्क दिया है अल्लाह ताला की कसम तुमसे ज़रूर उस बारे में पूछा जाएगा जो झूठ तुम खड़ा करते थे